बराबर की नहीं सो कपूर करके एक सौ एक केज ही जाएगा सिंह दंजी कुमार शश और शाउट आउट टू संगीत तुम्हारे देश रखो योगदान नो चांस ये दिन काम इनका नो चांस ये लुपे रख के जो का इनको मोक्ष प्राप्त मैं लुपे फंस गया जैसे पुनर्जन्म से लिख रहा हूँ one two love with the one two rhythm you can call this दंजी is not never needed a reason ला पर जब भी पैसा तो तभी पैसे मिजन तो जब भी लातिन लिखित में थोड़ा जागे लिसन पर अगर भाषा दिक्कत पड़ती तो थोड़ा ध्यान से लिसन ना baby listen man rewind this दोबारा लिसन तू मेरे को भूतकाल में सुना तो तेरे आज में डिफरेंस और बाल तो चेक करवा के जा टू टूटना है परवान ने काम इतने साल से एक भी सुना किसी का तो आज भी काहे का मैं गाहेगा तेरे को समझ आए के नहीं आएगा ब्रदर के खाने का शौक नहीं है आवाज तो बोल दे साउट आउट तो संगीत तो तुम्हारा देसी रहा कोई योगदान है योगदान इसको रोक डाल नहीं तो शो स्टॉप ये लुपे रख के ही जोगा इनको मोक्ष प्राप्त मैं लुपे फंस गया जैसे पुनर्जन्म से लिख रहा देख रहा हूँ अभी जा दिख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ सदा थोड़ा थोड़ा ज्यादा दिख रहा हूँ ये रैपर बच्चे मेरे दिख रहा हूँ ये पैदा हुए जब मैं गेम को डिक्टेड डाउन लिरिक्स लाओ जाओ तरस के हुआ सीट पे टू बाउट डेड लाइफ और लेबल रखा पूछो तेरा भाव देख क्या बेगल बेगल टिक करके सीखा गुड़गल दिख एबीसी गाने तांत्रिक विद्या खड़ी मौसम के लिए से भी तो तरीका तो चलता तेरे लिए लिखता एक का देखना एक खराब थी बहुत तब बात हम मास्टर जी जीवन कैसे जी और उसने मैंने कोई भविष्यवाणी के के थमाते सही बात है हाथ में सड़े बात तो वही के वही है ये नसी नसी की बातें का क्या बात इस पे गौर ना दे तो पास साथे आ जाओ तारी साड़ी साथी उतारे बेचो तुम्हार देसी रैप को योगदान हुड मेरा गाम आधी रात को चक्का जाम मेरे पीछे मौत पूछे अगर करना मोक्ष प्राण मैं लूप में फंस गया जैसे पुनर्जन्म से लिख रहा देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ थोड़ा चाय दिख रहा તો હારી વાત ના કહેવાય ના તો નથી જ ને ભાઈ બે પણ તો આ નાગાઈ કઈ રીતના બંધાય નાગાઈ આ બંધન ના